इंसानों को इस जमीन पर पैदा करवाया है और अपनी मखलूकत में सबसे ऊंचा दर्जा है अल्लाह सुबहान तआला ने इंसान को अटा फरमाया शायद अपने कदम से कर्म से ये लड़का इंसान को अल्लाह सुबहान तआला ने अटा फरमाया पैदाइश के अहबान से इंसान का खुद उसमें कोई अपना हाथ नहीं है बल्कि दास ने उसको पैदा किया और उसको उसके सर पर बहुत बड़ा दान रख दिया और ये ऐलान कर दिया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बना रहा हूं करके अपनी खिलाफत का राज सुबह ने इंसान के सर पर रख दिया लेकिन भाई लोग बुजुर्गों और दोस्तों ये समझने की बात है कि ये जो दर्जा इंसान को मिला है वो अपनी जात के अखबार से नहीं है मन के इसके अंदर कुछ सिफात पैदा हो जाती है तो उन सिफात की बुनियाद पर इसको यह दर्जा मिल जाता है और वो सिफात पैदा होती है कुछ मेहनत करने से कुछ आमाल के करने से उसके बात पैदा होती है इस किताब को सारी की सारी नापाक ही नापाक है ये पैदा किया गया तो बंदे फिर से पैदा किया गया और जब बड़ा होता है कहीं से भी जो चोट लग जाए या सूर्य अपना जो तो कूद भी करता है वो खुद नापाक है हर चीज केशव के अंदर नापाक के नापाक है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई कीमत होती हो तो ये अपने घात के अनुमान से जिंदगी नहीं है बल्कि इसके अंदर बात पैदा हो सकती है वो बात कैसे पैदा होगी वो बात अच्छी भी पैदा हो सकती है और बुरी भी पैदा हो सकती है इंसान के अंदर दोनों खासियतें रखी है तो वो अपने अंदर चाहे तो अच्छी बात पैदा करे और बुरी सी बात भी पैदा हो जाती है ये कैसे पैदा होती है जब आदमी अच्छे काम करता है तो अच्छे की बात पैदा हो जाती है और बुरे काम करता है तो बुरी की बात पैदा हो जाती है सारा मसला जो है वो अच्छे कामों का और बुरे कामों का है अब इंसान को अपलोक तो है अनाथमयी है अनाथमान का साधन है लेकिन ये अपलोक है जो है वो किसी की रहबरी में काम करे तब तो फिर किसी सही रूप पर चलती है और अगर थोड़ी अपनी वर्दी पर चले तो हर आदमी के अंदर नफ्स होता है और नक्स आदमी को खालिशात की तरफ को लेकर चलता है तो अपनी समझ से इसको ये तय करना कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है ये मुश्किल है जैसे छोटा बच्चा होता है उसे पता नहीं होता तो ये चीज मुझे नफा देगी या नुकसान देगी वाले उसको समझाते हैं और उसकी निगरानी करते हैं कदम कदम के ऊपर तो इधर को भागता है इधर को भागता है और किसी चीज को उठा करके मेज पर से गिरा देगा जोड़ देगा और आते उससे इधर कर देगा ये मदद कामना कर बैठे और अच्छे अच्छे काम उसको सिखलाते हैं अल्लाह तुम्हारा राजा ने इंसान को बनाया हम लोगों को बनाया है और इतना ऊंचा दर्जा अल्लाह कमाया है तो जो ही नहीं छोड़ दिया बल्कि हमारी रहबरी के लिए अपना तबारा ने हर जमाने में और हर इलाके में अपने खास बंदों को भेजा इंसानों को ये समझाने के लिए कि कौन से काम अच्छे हैं और कौन से काम बुरे हैं हर जमाने में एहराम में आकर के इंसानों को ये बात समझाई है और फिर कभी ने समझाया आखिर में अपना सुबह बताना है हजूर एकदम सदुल्लाजन को भेजा जब इंसानियत इस मकाम पर पहुंच गई कि बात उन पर कही जाएगी वो सारी दुनिया में पहुंच जाएगी तो फिर दादा ने कभी ये बात अली सलाम को भेज दिया पहले नगरियों को कुछ काम दिए जाते थे कुछ काम दिए जाते थे वो बताते थे कि तुम ये काम कर लो और इन कामों से बचो मुकम्मल तरीका हयात नहीं दिया गया था किसी भी नदी को पहले लेकिन आखिर में कबीर सलाम को क्योंकि अब प्रयास तक के लिए किसी नदी के भेजने की जरूरत नहीं है वो जो काम जो तो नदियों के रूप में किया गया था वो नदी की भी के रूप में कर दिया गया और दीन को मुकम्मल कर दिया गया यानी जिंदगी का कोई शोक हयात ऐसा नहीं छोड़ा इसमें ये न बता दिया गया हो देखो ये काम अच्छा है ये काम बुरा है शक्ति समझ इसको नहीं कर सकती लेकिन रवि ने सब चीजों को खोल खोल करके बदला दिया जिंदगी के हर शोबे में ये करना है और ये नहीं करना है जो करने के काम है अच्छे काम है तो आदमी उनको करता है तो उसका अच्छी सिफात पैदा होती चली जाती है और अगर वो न करे उसके उसके उसके न करने की जो वजह है अल्लाह सुबह सदर ने इम्तिहान के लिए उसके अंदर जो कुत ध्यान रखी है एक उसका नफ्स है और एक शैतानी कुत है ये जो कुतें हैं जो इंसान को सही राहों पर आने से रोकती है तो यहाँ थोड़ा सा मुजाहिरा करना पड़ता है और वो मुजाहिरा बहुत मामूली होता है कोई ज्यादा नहीं होता है सिर्फ नीयत को मजबूत करने का होता है आदमी तय कर ले मुझे ये काम करना है और ये नहीं करना तो हो जाएगा जरा भी उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी सिर्फ इरादा करना होता है लेकिन बात यह है कि वो इसके चक्कर में पड़ जाता है अपने नक्श के चक्कर में और शैतान बहता देता है शैतान के नफ्स तो अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने के फिक्र में रहता है और शैतान का काम क्या है वो उल्टी पट्टी पढ़ाता है जिस काम में नफा है उसको दिखाएगा इस पर बड़ा नुकसान है और जिसमें नुकसान है उसको दिखाएगा कि इसमें तो बहुत फायदा है उल्टे उल्टे उल्टे काम उल्टी पत्नी बढ़ाता है और नर्स जो है वो परेशान की तरफ को ले जाता है और आदमी के अंदर समान सुबह दादा ने ईमान के लिए कुछ जरूरतें भरती है जैसे खाने पीने की जरूरत है अल्लाह चाहता है तो बगैर खाने पीने की जरूरत के भी हमको पैदा कर सकता था मेरा मरीज तो है अल्लाह मखलूक है थोड़ी थोड़ी ताकतवर ये बात है एक ही मरीजा इतना ताकतवर है कि वो कयामत के लिए वो भूख मार देगा तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी सूर्य हो जाएगी और फिर उसको आउटो आना गंभीर तौर को बोलो तो सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी इतने बड़े बड़े ताकतवर भविष्य अल्लाह सुबह ने बनाए लेकिन उनसे भी ज्यादा ही ये इंसान बन जाता है ये इंसान कैसे देखती बनता है वो कहीं भी बनता है अपनी ख्वाहिशात पर जरा काबू करे वो जरूरत कितनी बनाई है जितनी जरूरत इंसान को के अंदर रखी है उस जरूरत पर वो इतफा करे लेकिन वहां नहीं उसका वो खाने के लिए थोड़ा सा काफी है प्रकार की दो होनी चाहिए चार होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए और जो चीजें जो है मैं ये भी खाऊंगा ये भी खाऊंगा तो आयशात की तरफ को जल देता है और जरूरत को ख्वाहिश में बदलता है बैठने की ख्वाहिश है मकान के बजाय की एक जरूरत है और एक साजिश है जरूरत तो का बड़ा थोड़ी सी थोड़ी तो सी तो पूरी हो जाती है ऐसा मकान बना रहे थे जिसमें उनसे हिफाजत हो सके धूप से सर्दी से गर्मी से हिफाजत हो सके तो लेकिन बारिश इतनी है एक मकान बनाया फिर दूसरा बनाया फिर किला बनाया तो बड़े बड़े बड़े और इतने बड़े के जिंदगी में एक जगह भी उसमें कदम रखने की नौबत नहीं आती इतने बड़े बड़े मकान बना बना रहता है ऐसी सवारी आदमी को जरूरत है और गाड़ी में गाड़ी खरीदे चले जाए मोल खड़े पैसे भी नहीं है तो नहीं मोल पता नहीं है पर और पिछड़ों को मरीज दिया और वो किसी में ज्यादा खर्च हो गए तो निश्चित तो की गई तो फिर सूद दो तो उसके ऊपर तो अब वो आराम का हो गया और इतना खराब सामने सारी दुनिया की माइशत चोरी से बर्बाद होती है चोरी कारोबार तो सारी दुनिया बेवकूफी के अंदर मुलविस है तो वो माइशात की वजह से होती है जरूरत तो थोड़ी देर दूर पूरी हो जाएगी अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो चलो भाई बस में बैठ करके कहीं नहीं देखा एक है फिर दूसरी गाड़ी आई गई तीसरी ये ये शान आदमी की कभी पूरी होती नहीं है ऐसी लचक है आदमी की ख्वाहिश के अंदर इस बात में आता है कि आदमी को एक वादी भर करके सोना दे दिया जाए वादी कहते हैं जो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है ना उसे वादी कहते हैं तो इतना सारा सोना सोने का बंधन मतलब ये वो जो कैश है ऐसा है और उससे हो जाए खरीद जो इतना सारा पैसा उसको दे दिया जाए फिर भी ये कहेगा एक और होनी चाहिए एक इतना ही और सोना होना चाहिए पता नहीं क्या कौन सा देश आ गया है और दो देखो को तीसरी की तबना करेगा और अगर की मटकी के अलावा उसका कोई पेड़ भर ही नहीं सकता है ऐसी होती है ख्वाहिश आदमी के अंदर जरूरत तो है बहुत महदूद जो अल्लाह ने इंसान के अंदर बनाई है इम्तिहान के लिए तो चाहता तो बगैर उन जरूरतों के ही बना देता इंसान को तो यही से क्या रहना है कि ये जरूरत पर रहता है और हलाल और हराम की तमीज करता है या नहीं करता है उन जरूरतों के अंदर आदमी को चीजें डाली पड़ती है और चीजें मिलती है पैसे से समझे और पैसे पैसा मिलता है व्यवहार की मेहनत करता है मजदूरी करता है कोई काम करता है अब उसी में उसका इम्तिहान होता रहता है कि जिस तरतीब पर उसे काम करने के लिए कहा गया है वो उस तरतीब पर करता है या नहीं करता है शरीर है समझाया और गुरु ने सारे श्लोकों में समझा दिया कि क्या करना है अपनी आंखों को कैसे इस्तेमाल करना है कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है समझे आंखों से देखता है आदमी तो एक अमर वजूद में आता है समझे अब वो अमर अच्छा भी हो सकता है और वो उसको बहुत ऊंचा उठा देगा और खराब भी हो सकता है वो सूर्य को बिल्कुल नीचे गिरा देगा एक एक क्या कहते हैं ये एक मुठी बेटे की मोहब्बत भरी नजर अपने वालिद की तरफ अभी तक देखते ये मेरे अब्बा हैं तो एक मकबूल है सत्यवान नहीं जाता अब बताइए कौन सा कौन सा उसने पहाड़ रहे हैं बस तेरा ही है तो ऐसे अमल हमको दे रखे हैं वो देगा तो इतना सारा जवाब नहीं गया और इसी तरह से जबान से कलमा पड़ता है कोई जबान से बात निकालता है तो उससे कितना प्रेम भी बन जाता है एक बात सुधार अल्लाह करे और के पवन पहाड़ के बराबर अगर मिल गया इसमें कितना जोर पड़ा सुबह कहने अलहमदुल्ला कहने में अल्लाह कोई कबीर आसमान के बीच को भर देता है यहाँ यहाँ एक कहने से इतनी सारी जबान नदी तो जबानी तो हिलानी पड़ी है और यही जबान गलत चल जाए यानी इससे गलत अमल शामिल हो गया तो ये ऐसी ऐसी ऐसी गलत बात कह देती है अगर उसको समंदर में डाल दिया जाए तो सारा समंदर ताकूल से बदबू से सड़ जाए इसलिए खतरनाक बात भी हो जाती है तो इंसान को अमल का अमल करने के लिए अपना समाज डालने के अवधार दिए हैं आंखें दी है जबान दी है और उसको कान दिए हैं और उसको सांस दिए हैं काम करने के लिए उसको पैर दिए हैं चलने के लिए ये सब इंसान के अमल करने के लिए है और अपने जरूरत के पूरा करने के लिए वो अमल करता है ये ये ये ये ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो अपनी जरूरत के पूरा करने के लिए अमल में लगा जाता है एक आदमी अमल कर रहा है अच्छा किसी वक्त उसको यह एहसास हो कि मुझे कोई काम ही नहीं है तो आप देखेंगे कि वो वहशत ना लग रहे तो सबसे ज्यादा वहशत आदमी को उस वक्त होती है कि मुझे कोई दुकान नहीं और बैठा हुआ तो मैं तो हमें हमें काम के रखे हर वक्त आदमी की जरूरत है उसको काम पर डालती है ये करना ये करना ये करना और फिर अल्लाह सुबह दादा ने कितना बड़ा धर्म किया कि अपने नबी सलाम के रास्ते से हमको ऐसे जरूरतें दी हैं पांच ऐसे ही पांच काम भी ले लिए हैं करने के लिए नमाज पढ़ो रोजा निग्र करो सारी दफा सवाल पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मशहूर है कोई भी काम नहीं है और उसमें मशहूर है उससे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं नमाज पढ़ने में पाँच दस मिनट खर्च हुए लेकिन वो घर से चला वजू करके और फिर मस्जिद गया फिर मस्जिद में इंतजार करता रहा अजान के बाद बैठ करके और फिर वापस आया तो एक डेढ़ घंटा बैठ हो गया समझे मशहूरियत कितनी हो गई तो मशहूरियत के लिए अपना सुबह दादा ने जरूरियात तो दी ही है लेकिन ये ये बाधा वादा से देती है जो आदमी को एकदम ऊपर उठाती चली जाती है उसको तीन की शक्ति की बना बनाती चली जाती है ये अभ्यास स्वादारा का बड़ा बदल और कदम है एहसान अच्छा है कि उसने अपने युवी के तरीके से हमको ये आमान दिए हैं करने के लिए कि तुम अपनी जरूरतें पूरी करो इस तरफ पर तो तुम्हारा तुम्हारे के बदल बदल रहेंगे और तुम इबादात में करो तो तुम्हारे बहुत मुझे के बदल बन जाएंगे चौबीस घंटे हम गोया अपने को मशहूर रख सकते हैं तो अगर इस दुनिया से अपने को कीर्ति बना करके निकले निकलना तो सभी को है कोई यहाँ रहता नहीं है मुख्तलिफ है कोई बचपन में चला जाता है कोई जवानी में कोई बूढ़ा होकर जाता है लेकिन सब चले ही जाते हैं पचास सौ साल की और सब यहाँ से चले जाते हैं वो जो जाने का वक्त है उस वक्त वो अपने को कीमती बना चुका है अगर उसने अपने को कीमती बना लिया है तो फिर वो अल्लाह के पूर्व में उसको मकान मिल जाएगा समझे ये है जो उसके लिए बहुत बड़ी शान की चीज है और वो बहुत बड़ी की चीज है ये इंसान जो अपनी जात के अखबार से बिल्कुल कुछ भी नहीं है लेकिन उसको पूर्व इलाही नसीब होगा समझे और फिर और कोई इलाही नसीब होगा इसके अलावा क्योंकि इंसान के अंदर दुनिया में ख्वाहिशात होती है तो ये भी बदला दिया है अरे बोले ये तुम्हारी खाशात है ये सब पूरी की जाएंगी समझे सब पूरी कर दी जाएंगी कोई ख्वाहिश रहेगी नहीं तो जन्नत का भाग नहीं किया जाएगा और जन्नत जो है जन्नत की तारीफ ही ये है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन नुज़ुलन मिन गफूर अपने तुम्हारे जो तुम्हारी खारिश है तुम्हारी पूरी हो जाए <laughs> दुनिया में तो इसी आदमी की आज तक एक की भी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई अगर ये ख्वाहिश पूरी होती है तो दो उसको कुर्बान करनी पड़ती है चाहे कोई पूरे मुल्क का बादशाही होना हो लेकिन सारी ख्वाहिशें तो पूरी दुनिया में किसी की भी नहीं होती है और उधर तो कुछ ना कुछ कुर्बान करना ही पड़ता है लेकिन जन्नत में सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएंगी और फिर कहा के जो संदेश है वो मिलेगा जो तो भाई है और जो जो करोगे जो में वो भी मिल जाएगा और इससे भी आगे की एक बात कही समझे वो बात क्या है कि तुम जो है अल्लाह सुबह दादा के मेहमान बन जाओगे मेहमान यहाँ दुनिया में कोई गरीब आदमी है उसके घर कोई मेहमान आ गया तो उस पर पैसे भी नहीं है लेकिन वो सलाम करता है उधर अच्छा खिलाएगा अच्छी जगह दिखाएगा ये फायदा होता है और जो उदासा मेहमान बन गया वो कितनी बड़ी बड़ी पोजिशन उसको हासिल हो गई इतना बड़ा मकान उसको मिल गया तो ये सब अल्लाह तुम्हारा दादा इंसान को हटा फरमाएंगे दुनिया में कोई आदमी अल्लाह को देख नहीं सकता उसकी आंखों में ताकत नहीं है देखिए वो उसको उसकी आंखों को ताकत दी जाएगी वो अल्लाह तुम्हारा दादा उसको ज्यादा करेगा और आवाज को सुने केवल हनुमान बोलकर के कथा सुनाएंगे और फिर हर की इस याद करने की वजह से और कलाम सुनने की वजह से उसके हुस्न में और उसके खुशबू में और और और गहरी हो जाए समझे और हर एक को नशीब नसीब होंगे जन्नत के अंदर और अकेला अकेला समर्थन रहता है नहीं बहुत लोग होंगे वो सबके अंदर कुछ उपक्रम जिंदगी मिलेगी और हमेशा ही मिलेगी सबसे ज्यादा आदमी को जो बैठक होती है तो भाई एक दिन तो मर जाएंगे और खबर में आप बड़े होंगे और वो तो होना ही होना है लेकिन वहां पर यह खतरा खत्म हो जाएगा वहां पर मौत को भी मौत आ जाएगी तो अब मौत नहीं है हमेशा हमेशा के लिए वो बेहतरीन जिंदगी अपना समान दादा की तरफ से अदा की जाएगी तो इतना बड़ा मकान अपना समान दादा ने इंसानों को अदा करवाया है और सिर्फ इतना ही चाहते कि हम अपना था करने वाले बन में समझे इसको इसको कहते हैं ये यही आदमी मानने को तैयार नहीं है कि हमें अल्लाह ने दिया है इंसान ऐसा जो है तो नहीं जो मैंने तो अपने मेहनत से कमाया है अगर एक एक गेहूं का दाना बना सकते ये सब कुछ सारी दुनिया मिल करके एक गेहूं का दाना भी बना सकते वो वो वो वो क्या क्या बनाएंगे वो चीजों को एक शक्ल को दूसरी शक्ल में बदलते रहते हैं समझे वो अल्लाह ने चीजों के अंदर ये ऐसी बात पहले से भर रखी है लेकिन कोई नई चीज बना दे इंसान ये ये साबित हो चुका है कि एक जर्रा भी कोई इंसान नया नहीं बना सकता ये सब साबित हो चुका और इंसानियत आजिद है न वो उसे खत्म कर सकती है एक भी जर्रे को उसकी फितरत बदल जाएगी और ना कोई नया जरूरा पैदा कर सकती है ये सब अल्लाह सुबाना दादा ने ही पैदा किया है लेकिन फिर भी जहाँ तो सूर्य है ये पट्टी पड़ा रहता है अपने सूरज को इतना बड़ा काम कर दिया और ऐसी ऐसी नई नई चीजें बना दी है और मैं तो दुनिया वालों को ऐसे नचा सकता हूँ ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ उनके शैतान जो है वो वो तो वो तो बड़ी इबादतें करता था लेकिन वो क्यों मजदूर हुआ वो मरदूल इसीलिए हुआ उसके उसके अंदर ये बात पैदा हो गई कि मेरा इतना मुकर्रम और मुझे कह रहे हैं कि इसके सामने सजदा करूं आज आदम के सामने मैं बड़ा और ये छोटा तो यही लोग इंसान में भरता है समझे सबसे खतरनाक चीज जो है एक तो हमें ख्वाहिशात के अंदर आकर के आदमी गुनाह करता है गलत काम कर बैठता है और उसमें आज किसको पकड़ना चाहता दुर्घटना हो गई लेकिन शैतान जो आदमी को पट्टी बढ़ाता है तो बेहतर है और वो ने कोट छोटा है तो बड़ा है मां को कभी नहीं करता हो रहे तो मैं ही हो रहा हूं आदमी के दिमाग में ये खन्नास घुसा देता हूं और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है पढ़ाई तो अल्लाह के लिए है बार बार नमाज में अल्लाह अकबर अल्लाह इमाम कहता है उनकी बुद्धि कहते हैं और दिन की बार बार कहता है अंदाजी ही बड़ा है लेकिन शैतान के जहर रहता है ये नकली दूरी बड़ा है तो पता है अब ये नदियों ने समझाया इंसानों को नहीं हमको तो अल्लाह ने अपना बंदा बनाया है ये वो खुद मालिक है और बंदा बनाया है और उसको तबादो पसंद है अल्लाह बना को तबादो पसंद है तबादो किसे कहते हैं तबादो तबादो किसे कहते हैं ये सारी तबादो मतलब ये है कि मेरा भाई मुझसे बेहतर है मैं उससे कम कर और मैं रहा हूँ ये ये कुछ नहीं है ये तकबुर है ये क्यों है जो अल्लाह को पसंद नहीं है और कि उसकी आदत को आज दुनिया में सामने नगर छोड़ कर ही है अगर हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा ये दुनिया में भी नुकसान होता है जो अपने को पढ़ाई के अंदर हैरान के चक्कर में आ करके अपने को बड़ा करना शुरू कर देता है अरे भाई पढ़ाई जब तुझे से पैदा किया है और बता रही कि आखिर क्या हमारा हमारा अंजाम होगा तो इसमें पढ़ाई करने की क्या बात है हम तो अल्लाह के बंदे हैं हम तो अल्लाह से ही मांगते रहे समझे और अल्लाह हमारा दादा ने हमें हमको हमें पसंदीदा आमाल है बहुत पसंद वाला अमल ये है कि आदमी तबादलों के साथ दुनिया में रहे अरे उसके दिल में ही ना आए कि मैं बड़ा बन गया चालीस का बड़ा काम कर सकता है आगे लेकिन अपने दिल में ना आने नहीं करी ये तो मुझे करना ही था तो अल्लाह नहीं किया और हर काम को मंसूब उस तरफ को करते तो वो अल्लाह का बंदा बन जाएगा समझे और वो तरक्की करता चला जाएगा खानदान के ऊपर हेडरी तो कोई नहीं करता कि मैं अल्लाह से बड़ा हूँ ऐसा तो कोई नहीं करता लेकिन आपस में एक दूसरे से पढ़ाई पढ़ाई में चलाना शुरू कर देते अरे नहीं भाई हमारी खूबी अल्लाह सुबह तला ने यही बताई है उनको खैर कहते हैं ये बेहतरीन हो और लोगों को नफा रसानी के लिए निकाले गए हो लोगों को नफा पहुंचाना लोगों को नफा पहुंचाना और फिर नफा पहुंचा करके फिर तवादो इख्तियार करना ये है असल चीज हमें किसी को बहुत गरीब आदमी है और एक ईमानदार आदमी है उसको बहुत पैसे दिए और फिर अगर बीस साल का जितना रखेगा इतने पैसे के लिए भावना में जाना आगे बताना और उसको भारत की नजर से देख रहे हैं नहीं भाई ये सब ठीक नहीं है ये जो अल्लाह ने तुमको जब आपने दिया है अमल करने का मौका दिया है दूसरों को तो हिफाजत से न दे दूसरों को नफा पहुंचाते हो जैसे आदमी अपनी औलाद को नफा पहुंचाता है वो बिजली सफर सफर करे लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो सभी ऊपर चलता है और उसको नफा ही पहुंचाता है क्योंकि उसे अपनी औलाद से मोहब्बत होती है अल्लाह सुबहाना तारा हर इंसान से इतना मोहब्बत करते हैं एक एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है उससे भी सत्तर गुना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह सुबहाना तारा अपने बंदे से करते हैं लेकिन वो बंदा जब बंदा रहे तभी को और बंधा ही वो तो खुश जो है वो लोग तो रास्ते के ऊपर जाने के बेटर में तो फिर ये महबूब नहीं रहता इसकी महबूबियत खत्म हो जाती है हम अल्लाह के बंदे बंद कर रहे इस दुनिया के अंदर तो अल्लाह तुम्हारा तारा हमको बहुत कुछ नवाजने के लिए तैयार है उसे नवाजा जाएगा तो भाई दोस्तों बुजुर्गो ये सिफत हमारे अंदर पैदा हो इसी के लिए ये तबलीग और दावत की मेहनत है और ये अमाल के हल्के में अमाल की कीमत को बार बार बनाई के रास्ते से सुनना ये बड़ा अमाल किताबें हैं और फला अमल करके मिलेगा फला करके मिलेगा किसान के अंदर जो है लालच है तो इसीलिए अमल पर उसको नफा ही बदला दिया गया एक तो मोबाइल ही है वो तो असल चीज है लेकिन और भी क्योंकि इसके अंदर लालच और हिर्स है तो नफे भी बदलाए गए हैं कि समाज ये मिलेगा ये मिलेगा ताकि हम अमल को करने वाले बने लेकिन यदि तो करेंगे जब कुछ हल्के न करने तालीम के हल्के के अंदर जम करके इसी जवान में जाते चार महीने के लिए किसी के लिए और बार बार निकालते हैं ताकि हमारे अंदर चीजों की कीमत कम हो जाए और आहार की चीज कीमत बढ़ती चली जाए ये तो आदमी का आदमी का मिला ये रहता है यदि इस चीज की कीमत उसके सामने बयान की जाए वो चीज की अहमियत बढ़ती चली जाती है रात दिन कितना एडवर्टाइजमेंट होता है कितना प्रबंधा होता है चीजों का कि उनकी आजमत दिल में बैठती चली जाती है आमान की नीचे आती चली जाती है हम अल्लाह के रास्ते में निकले और चीजों की कीमत बात और तो हमारी कीमत की बात होती है चार चार घंटे बैठ करके तालीम का हफ्ता होता है उसमें तलब के साथ सुने तब समझे ऐसा हिस्सा भी और दूसरा हिस्सा भी दोनों को यही बदाय हिकायत साहबा है बदाय नमाज है बदाय जिक्र बदाय कुरान और बदाय तमीर और क्या कहते हैं दृष्टि की का भाई विराज और इसी तरह से सदैव सर्वथा आज के जमाने में सदैव है हनुमान के जमाने में सदैव ये सारे पलाई की किताबें इसमें बार बार बैठ करके हम अगर सुनेंगे तो अल्लाह समाधान हमारे अंदर अमाल का शौक पैदा कर देंगे और जो हम पूर्व इलाके के अंदर तरक्की करते चले जाएंगे इसी अमान के जरिए से सिफात पैदा होंगी अगर अमल अच्छे नहीं करेंगे तो हम अच्छी सिफात पैदा नहीं होती है फिर बुरे अमल करेंगे तो बुरी बुरी बात पैदा होती चली जाती है इसीलिए भाई मस्जिदों का माहौल पाकिदा होता है और अच्छा होता है और वो भी बनाने से बनता है और सीधा का तो माहौल भी वैसे ही बन जाता हमारी ये मन शुरू है उन्नीस सौ सत्तर के करीब कई एक मुल्क में इंडोनेशिया में वहां बहिष्कर के लोगों को पकड़ कर आए नौजवानों को और वो आकर के वो आगे ही मस्जिद आए और आकर और हमारा आदमी बात करे वो पीछे बैठे हुए सिगरेट पी रहे ये भी बता रहे मस्जिद है वही साधन बलराम होना चाहिए कितना माहौल बिगड़ा हुआ तो तो मस्जिद में भी माहौल बनाना पड़ता है और जब बनाएंगे तो घरों में भी माहौल समझ जाएगा इतना तो तो बेहतरीन काम हमको हिदायत फरमा दिया अपने कर्म से तो इसमें कोई मुझे भी नहीं है दादा और आदमी के अंदर बेहतरीन बेहतरीन की बात पैदा हो जाती है और सारी दुनिया को नफा पहुंचाने वाला ये इंसान बन जाता है किस इलाके में जाएगा जहाँ भी जमात जाएगी वहाँ के लोग उससे फायदा पहुंचाते हैं सारा शर प्रसाद फसाद खत्म हो जाता है इस पर कर्म करना है वायरस दोस्तों इसके लिए सब भाई इरादा करें कि हम सालाना एक तरतीब है हमारी रोजाना की और हफ्तेवार की और महाना की और सालाना की यह तरतीब बना करके दे दी गई है तो फिर रोजाना नहीं थोड़ा टाइम करके कम से कम इसी मेहनत में लगाए जाए और इसी तरह से हर हफ्ते भी खुदारी में ज्यादा के और वहाँ दसवा हिस्सा कम से कम किसी काम के लिए लगाया जाए अपने में शामिल होते हैं के मदर से कर इसी तरह महीने में कम से कम तीन दिन लगाए जाए इसी माहौल में और इसी तरह साल में समझे समझे तीन सौ पैंसठ भी होते हैं तीन सौ साठ भी और आख्यान के हिसाब से तीन भी हो गई तो फिर उसमें चिल्ला है तो कम से कम चिंता वरना कोशिश ये करना चाहिए कि अब तक इतने दिन गुजर गए बगैर कम कराए हुए हर साल चार महीने लगे कोशिश करना चाहिए हर महीने तीन दिन के बजाय और दो मंत्र पार्टी तीन मंत्र पार्टी लगा है और इसी तरह रोजाना बजाय ढाई घंटे आठ घंटे लोग लगाने उनके मशहूरियत के लिए बहुत बेहतरीन चीज हमें मिल जाएगी और हम अपने को कीमती से कीमती बनाते चले जाएंगे तो भाई दोस्तों लोगों इसके लिए इरादा करें और सभी भाई कि हम अपनी जो मामूलात है अपने मामूलात में इन चीजों को दाखिल करें तो तैयार है